परम पिता परमात्मा का स्मरण मंगलमय परमात्मा ध्वनि ओ हम प्रेमी सज्जनों परमात्मा को संबोधित करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप को मन में लाते हैं परमात्मा को किसी विशेष गुण से युक्त देखने विचारने का भाव मन में रखते हैं आज का संबोधन है हे सर्व मंगलमय सर्व यानी सब मंगल यानी शुभ मय अर्थात उससे युक्त पहले मंगल शब्द पर विचार करते हैं कि हम मंगल किसे कहें मंगल का अर्थ क्या होता है सामान्य भाषा में बोलचाल में जब हम मंगल शब्द का प्रयोग करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं सब अच्छा है शुभ है हितकारी है कल्याणकर है ये सब अर्थ मंगल के हैं कि मंगल शब्द मूलतः मकी धातु से बना है जो कि गत्यर्थक है गति अर्थ वाली है संस्कृत भाषा में गति अर्थ वाली धातु के तीन अर्थ लिए जाते हैं उसको और खोल दिया जाता है पहला है ज्ञान दूसरा है गमन जो कि गति का सीधा सीधा अर्थ है ही और तीसरा अर्थ है प्राप्ति कुछ हमें उपलब्ध होना यहां मंगल शब्द का अर्थ प्राप्ति के रूप में हम ले सकते हैं देना चाहिए महर्षि दयानंद ने मंगल शब्द को खोल करके कहा मंगति अर्थात प्राप्त प्राप्त करता है प्राप्त करते हैं हम सुखम ये न जिसके द्वारा या जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम सुख प्राप्त करते हैं उसे मंगल कहते हैं सीधे सीधे गमन अर्थ अर्थात प्राप्ति हम जब प्राप्ति या उपलब्धि की बात करते हैं तो वो हितकारी चीजों की प्राप्ति की बात करते हैं यद्यपि दुख या हानिकारक चीजें भी हमें प्राप्त होती हैं लेकिन हमारी कामना से युक्त तो हितकारी लाभकारी सुखकारी वस्तुएं ही होती हैं प्राप्त होने योग्य तो जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं वो मंगल है हम बहुत सी चीजों से सुख प्राप्त करते हैं लोक में हमारा प्रत्यक्ष है वस्त्र भवन भोजन अन्य प्राणी मित्र पुत्र आदि उन सब से हम सुख प्राप्त करते हैं वो सब हमारे लिए मंगल हैं कल्याणकारक हितकर होते हैं उस अंश में हम उनको भी मंगल कहते हैं बहुत से व्यक्ति लोक में कोई धागा बांध लेते हैं उसको या गले में लटकाते हैं उसको मंगल सूत्र बोल देते हैं ये चीज मंगल है ऐसा करेंगे ऐसा कुछ चिन्ह लगाएंगे उसको मंगल कहते हैं कि इससे शुभ होगा इससे हमें कुछ प्राप्ति होगी सुख की प्राप्ति होगी इससे हमारा हित होगा उसको हम मंगल बोलते हैं और ये इसका अर्थ भी है यहां परमात्मा को मंगल कहा जा रहा है संसार के अन्य पदार्थ जिस भी तरह हमारा हित मंगल करते हैं सुख करते हैं वो भी हमारे लिए मंगल है उसका निषेध नहीं कर रहे लेकिन परमात्मा को भी मंगल कहा जा रहा है जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर इंद्रियों के स्तर पर शरीर के स्तर पर ही जीवन चला रहा है वो तो इन्हें ही हितकर और मंगल समझता है वो अन्य धर्म आदि को या धर्म आदि को भी छोड़ दें नैतिकता मनुष्यता को वो कुछ मंगल हितकर मानता भी है लेकिन वो परमात्मा को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं परमात्मा भी कोई मंगल है जिससे हमें सुख प्राप्त हो सकता है ऐसा वो स्वीकार नहीं करते साक्षात जिन जिन चीजों से उन्हें सुख हित प्राप्त होता है उन्हें ही मंगल मानते हैं और इस कारण वो उन्हीं तक सीमित रहते हैं उन्हीं से व्यवहार करते हैं अन्य कुछ निर्धारण कारक तत्व तो उनके जीवन का नहीं होता है यहां परमात्मा को मंगल कहा गया और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमात्मा को भी मंगल माने जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है अब ये विचार का चिंतन का क्षेत्र प्रारंभ होता है ज्ञान का क्षेत्र प्रारंभ होता है सामान्य स्तर पर हम रहेंगे तो ये विचार नहीं आएगा लेकिन जब हम सोचने लगेंगे कि ये चीजें भी कैसे उत्पन्न हुई हैं इनमें जो हितकारी चीजें हैं वो कैसे हैं हमारे लिए अभी बसंत ऋतु नीम के ऊपर कोमल पत्ते आए हुए हैं पुष्प आए हुए हैं उनको खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है पाचन अच्छा रहता है ज्वर आदि दूर होते हैं हम उसको मंगलकारी समझते हैं और नववर्ष पर अनेक जगह पे इनके पुष्प और पत्ते खाने को दिए जाते हैं साथ में मिश्री भी दी जाती है दोनों को मिला के देने की परंपरा है अर्थात ये एक चीज भी हमें मंगल दिखाई दे रही है तो इसमें हम ये मंगल बनी कैसे कि अपने आप बन गई ये दूसरे ने बनाई और इसमें वो चीजें कहां से आ गई जो हमारे लिए हितकर हो उसे क्या पता कि ये चीजें हम मनुष्यों के लिए हितकारी हैं कि मैं इनके लिए कुछ हितकारी चीज बनाऊं ऐसा कोई बोध ऐसी कोई प्रक्रिया उन पेड़ों में और इन सब में कहां से आ गई तो जब व्यक्ति इन भौतिक वस्तुओं से प्राणियों से ऊपर उठ करके विचार करने लगता है तो उसे फिर अन्य मंगल भी प्रतीत होने लगता है और वो मंगल सामान्य मंगल नहीं होता है वो सर्व मंगल होता है सब कुछ मंगल और सब कुछ मंगलमय है ये तो यह मंगल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ऐसा ये परमात्मा तो सर्व मंगलमय परमात्मा अर्थात परमात्मा जो भी है जैसा भी है उसके सब गुण बड़े महान हैं परमात्मा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा अमंगल कर सके परमात्मा का गुण कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारा अमंगल करता हो परमात्मा जितना है सर्वव्यापक जिन जिन गुणों वाला है भले ही निराकार है सर्वज्ञ है उसकी सर्वज्ञता भी हमारा मंगल करने वाली है और सामान्य व्यक्ति जो कुछ कुछ धर्म के संपर्क में आता है वो विपरीत भी सोच सकता है क्या अच्छा होता कि परमात्मा मेरे अंतकरण को नहीं जान पाता अकेले में मैं जो करता हूं उसको वो नहीं जान पाता तो अच्छा रहता उसकी सर्वज्ञता उसकी सर्वव्यापकता मेरे लिए हानिकारक है ऐसा कोई सोच सकता है परमात्मा का आनंद परमात्मा की न्याय व्यवस्था परमात्मा जो जैसा है वो पूरी तरह मंगलमय है वो पूरा का पूरा और इसलिए परमात्मा के पास जाने में किसी प्रकार का भय आशंका हो नहीं सकती जो परमात्मा को मंगलमय मानता है वो परमात्मा के पास ही जाने की सोचेगा जैसे संसार में हम मंगलमय वस्तुओं को चाहते हैं उसकी निकटता चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं जबकि वो थोड़े थोड़े मंगल होते हैं तो जब परमात्मा सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगेगा तो परमात्मा को ही वो चाहेगा और जब परमात्मा सर्व मंगलमय है तो उसने जितनी चीजें बनाई हैं वो भी मंगल के लिए ही बनाई है वो अमंगल के लिए कैसे हो सकती हैं तो सब वस्तुओं को वो फिर मंगल में ही देखता है लेकिन संसार में जब परमात्मा मंगलमय है उसकी बनाई सारी चीजें मंगलमय है तो फिर अमंगल क्यों दिखाई देता है हानिकारक चीजें भी तो दिखाई देती हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होने लगता है मंगलमय परमात्मा के द्वारा बनाया गया समस्त संसार मंगलमय है यदि उसका उपयोग परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार किया जाए उसके निर्देश के अनुसार किया जाए तो ये मंगलमय ही रहेगा परमात्मा मंगलमय था संसार मंगलमय था लेकिन परमात्मा के अनुसार यदि हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और फिर कुछ अमंगल आता है तो इससे परमात्मा अमंगल नहीं हो जाता इससे ये संसार ये प्रकृति अमंगल नहीं हो जाती वो तो मंगल ही है धर्म के क्षेत्र में आकर के जब व्यक्ति कर्मफल व्यवस्था को देखता है जन्म मरण को देखता है जीवन के कष्टों को दुखों को देखता है तो सोचने लगता है ये तो अमंगल है हमारी दृष्टि में मृत्यु अमंगल हो सकती है लेकिन परमात्मा की दृष्टि में मृत्यु अमंगल नहीं है उसने हमारे अहित के लिए दुख के लिए मृत्यु पैदा नहीं की है और जो समझ जाते हैं वो मृत्यु को अमंगल फिर स्वीकार नहीं करते अमंगल उन्हें प्रतीत नहीं होती है मृत्यु ये जन्म मरण भी उन्हें अमंगल प्रतीत नहीं होता है ये भी हित के लिए है परमात्मा ने बनाया है और जब वो अन्य प्राणियों को देखते हैं जिन्हें लगता है हमें कि ये तो बहुत निकृष्ट है वहां जो निकृष्टपना निम्नता हीनता दुख दिखाई देता है जो कि अमंगल जैसा प्रतीत होता है वह भी परमात्मा के द्वारा नहीं किया गया है वो अमंगलता परमात्मा की नहीं है परमात्मा तो अपना मंगल स्वरूप वहां भी रखता है उनका हित कर रहा है वो इसलिए जब परमात्मा को मंगल समझेंगे तो परमात्मा के बनाए सब जीवों को भी हमारे लिए भी मंगल समझेंगे और वो जो जीव वहां पर है विद्यमान उस शरीर में उसके लिए भी मंगल ही है वो पुलिस थाने को देख करके कारागार को देख करके भ्रष्टाचार निरोधी अधिकारी को देख करके किसी को वो चीजें अमंगल दिख सकती हैं जो दुष्ट हैं जो अपराधी हैं लेकिन वो इसलिए तो नहीं बनाए गए थे वो तो हित के लिए बनाए गए थे तो ये जो समस्त शरीर हैं विभिन्न योनिया हैं ये सब मंगल हैं हम अपने शरीर के ऊपर आए तो हमें प्रतीत होगा ये तो रोगों का घर है कभी ये कभी वो कभी ये कमी कभी वो कमी शारीरिक बल कम है इंद्रियों का बल कम है बुद्धि का बल कम है हमें कमी बहुत दिख सकती है इसमें ऋतु परिवर्तन होते ही रोग आ जाता है अधिक खा लो तो उल्टी दस्त हो जाते हैं मल मूत्र इससे निकल रहे हैं दुर्गंधित है परमात्मा की दृष्टि से तो ये मंगलमय ही है यदि हमें उल्टी आती है तो ये भी हमारे हित के लिए है वो तत्व जो हमने अंदर डाल दिया है वो तत्व जो अंदर हानि कर रहा है उसको बाहर निकालने का प्रयास है ये ये सफाई का प्रयास है हम इसको अमंगल देख करके तत्काल औषधि लेकर के उसको रोकने का प्रयास करें जबरदस्ती अब फिर हम अमंगल होगा फिर चमड़ी के रोग पैदा होंगे ये हमारी स्वतंत्रता है हम क्या कर रहे हैं लेकिन ये प्रक्रिया तो हमारे हित के लिए हुई थी विरेचन यानी दस्त लगे थे मल शुद्धि के लिए लगे थे ज्वर आया था तो कुछ ठीक करने के लिए आया था अंदर संक्रमण हो गया है उसको नाश करने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा है हमें विश्राम करना चाहिए हम अधिक तनाव में हैं तो सिर दर्द होगा विश्राम कीजिए शरीर भी मंगलमय है परमात्मा की तरफ से इसमें अमंगलता कुछ नहीं है परमात्मा स्वयं अमंगल नहीं है और न वो कोई चीज ऐसी करता है जो अमंगल हो शरीर से और आगे जाएं तो इंद्रियों को हम देखें इंद्रियों की बहुत सारी उपयोगिता को जानते समझते हुए भी उस दृष्टि से इसकी मंगलता है परमात्मा ने इनको बनाया है किंतु जब साधक साधना करने लगता है तो उसे ये इंद्रियां ही बाधक प्रतीत होती हैं प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय प्रत्येक कर्मेंद्रिय जैसे उसकी साधना में बाधा है क्योंकि उसने साधना को ऐसा ही समझा है बाह्य विषय अंदर ना आए चंचलता ना हो इंद्रियां चंचलता पैदा करती हैं विषयों की तरफ आकर्षित करती हैं तो ये बहुत खराब है अमंगल है अब इस समझ में हम अपनी साधना पर केंद्रित हैं और इंद्रियों को अमंगल समझने लगते हैं तो परोक्ष रूप से हम परमात्मा को भी अमंगल समझने लग जाते हैं वैसे परमात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखेगा साधक परमात्मा कुछ गलत कर ही नहीं सकता लेकिन उसकी बनाई हुई इंद्रियों को हम अमंगल समझने लगते हैं ये भी एक तरह की अविद्या है परमात्मा के विधि विधान के अनुसार यदि इन इंद्रियों का भी उपयोग किया जाए तो ये अमंगल नहीं है किसी भी दृष्टि से किसी भी क्षेत्र से किसी भी कोण से ये अमंगल नहीं है यदि ये इंद्रियां ऐसी नहीं बनी होती तो अमंगल अवश्य होता हमारा यदि ये इंद्रियां इतनी ही अमंगल हैं कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए इनका उपयोग बिल्कुल बंद करके जीवन जी के देखें हम कुछ तो हम घंटे पर भी नहीं जी सकते बड़े बेचैन परेशान हो जाएंगे तो समझने की बात यह है कि इंद्रियां अमंगल हैं या इन इंद्रियों का उपयोग हम गलत कर रहे हैं इसलिए अमंगल आ रहा है पर एक प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति की चाहे साधक हो चाहे लौकिक व्यक्ति हो वो दोष अपने पे नहीं लेता है वो दोष दूसरे पे देखने लगता है साधनों पे अन्य व्यक्तियों पर अपना भी देखता है तो कम देखता है उसे लगता है मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं फिर भी ऐसा ही हो रहा है उसे अपने प्रयत्न के दोष का ज्ञान नहीं होता उसके अप, उसे अपने ज्ञान के दोष का पता नहीं लगता और वो फिर सोचता है मैंने तो पूरा प्रयत्न कर लिया मेरे अंदर तो कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा दोष तो इन इंद्रियों का है इस व्यवस्था का है तो परोक्ष रूप से हम परमात्मा को इतने अंश में मंगल नहीं स्वीकार कर रहे होते लेकिन संबोधन है हे सर्व मंगलमय परमात्मा तो पूरी तरह मंगल है मन को ले ले धार्मिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक व्यक्ति भी साधना के लिए बैठता है बहुत पवित्र भाव को लेकर बैठता है परमात्मा के स्मरण के लिए बैठता है परमात्मा की अनन्य भक्ति के लिए बैठता है बाहर के विषयों से अपने को हटाना चाहता है उसकी निष्ठा में कमी नहीं है निश्चय में कमी नहीं है लेकिन फिर भी विचारों का प्रवाह चलता है कभी कुछ आता है कभी कुछ आ जाता है वो रोक नहीं पाता अपने को कभी कोई विषय उठा लेता है कभी कोई विषय उठा लेता है तो अब उसके लिए आक्रमण का बिंदु बन जाता है ये मन या चित्त जैसे कि ये ही सारी बाधाएं खड़ी कर रहा है लेकिन परमात्मा ने ये जो विचारशील मन बनाया है बुद्धि दी है जिसमें इतनी स्मृति रहती है और किसी एक वस्तु व्यक्ति क्रिया को देखते ही उससे संबंधित हित अहित की सारी बातें स्वतः उपस्थित हो जाती हैं अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इतना शीघ्र विश्लेषण ये करता है इतने शीघ्र इतने विचारों को ले आता है आगा पीछा सब सोच लेता है अगर ये सब ना होता यदि मन की ऐसी ही एकाग्रता चाहिए तब तो नींद की गोली लेने से या मूर्छित होने से भी वो आ जाती है नशीली दवाओं को लेने से भी आ जाती है वो बुद्धि को एकाग्र जैसा कर देते हैं लेकिन वो एकाग्रता तो कोई उपयोगी नहीं है हम नहीं हित कर समझते उसे तो मन तो ऐसा ही जैसा बना है वो अत्यंत कल्याणकारक है और उसी में यह सामर्थ्य है कि वो एकाग्र भी हो सकता है तो मन अंतकरण भी परमात्मा ने जैसा बना के दिया है वो भी अत्यंत मंगलमय कल्याणकारक है हमारा जन्म जहां हुआ है वो उचित है हमारे लिए वही उचित है जिस परिवार में हुआ जैसा शरीर हमें मिला वो हमारे लिए वही उचित है हमारे कर्मों के अनुसार है वो हमारे लिए मंगलमय है विभिन्न रोग हमारे आनुवंशिक शरीर में व्यक्त होते हैं वो हमारे लिए वैसा ही ठीक है हमें उसी में सब कुछ करना है तो जब हम परमात्मा को संबोधित करेंगे हे सर्व मंगलमय इसके साथ की जो व्यापकता है परमात्मा की मंगलमयता की जो व्यापकता है वो अगर मन में आ जाती है जितनी व्यापक बनती है उतना ही साधना एकदम आसान सरल लगती है शिकायतें नहीं रहेंगी ऐसा हो जाता तो मैं ये साधना कर लेता ऐसा होता तो ये कर लेता ऐसा हो जाता तो मैं ये प्रगति कर लेता क्या करूं ये स्थितियां ऐसी हैं अन्य मनुष्यों प्राणियों के द्वारा जो विपरीत स्थिति पैदा होती है वो उनके कर्म की स्वतंत्रता है जिसके कारण हमें ऐसा होता है वो नहीं होता तो भी हम अच्छा चलते बहुत अच्छा चलते और यदि ऐसा हो भी रहा है तो भी सर्व मंगलमय परमात्मा बैठा है वो हमारे को उचित क्षतिपूर्ति करेगा उचित हमारा न्याय करेगा ये एक दृष्टि और दूसरी दृष्टि वो जो हमारे साथ ये विभिन्न गलत व्यवहार करते हैं इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ये भी हमारी उन्नति के लिए आधार बन सकता है किस किस तरह से व्यक्ति बन सकता है क्यों क्या व्यक्ति ऐसे बनता है दूसरों को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी उन्नति कर सकते हैं तो जो गलत भी है संसार में गलत दिखाई भी देता है और उन गलत चीजों के परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं प्रभाव दिखाई देते हैं उस सबको देख करके क्या हम बहुत कुछ नहीं सीख सकते उसमें भी मंगल छिपा है तो परमात्मा को जब हम मंगलमय स्वीकार करते हैं सर्व मंगलमय वो स्वयं अपने आप में मंगलमय है उसकी निकटता कभी हानि नहीं पहुंचाएगी उसकी बनाई हुई वस्तुएं मंगलमय हैं यदि हम उनका ठीक उपयोग करें और परमात्मा के दिए हुए निर्देश भी सब मंगलमय है यदि हम उनका उपयोग करते हैं यदि हम उनको ठीक समझते हैं ठीक तरह से जान लेते हैं और फिर वैसा उपयोग करते हैं तो वो भी कभी हानिकारक नहीं हो सकते इतना विश्वास इतनी दृढ़ता मन में जब आ जाती है देख करके जितनी जितनी दृढ़ता विश्वास आता जाता है उतना उतना ये अध्यात्म का मार्ग और परमात्मा के प्रति लगन भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी स्थिरता इस मार्ग पर हो जाएगी अस्थिरता है तो उसका मतलब है हम कहीं ना कहीं यहां अमंगल देख रहे हैं मंगल की न्यूनता देख रहे हैं परमात्मा की व्यवस्था में हम कहीं ना कहीं न्यूनता देख रहे हैं वो न्यूनता भी अमंगल रूप है लेकिन परमात्मा की हर क्रिया सतत हमारे मंगल के लिए विद्यमान है सारी प्रक्रिया मंगलमय है वृद्धावस्था भी मृत्यु भी रोग भी उसको उसी रूप में देखते हुए जब हम चलेंगे तो परमात्मा का मंगलमय स्वरूप हमारे मस्तिष्क में दिमाग में व्यापक रूप से रहेगा और परमात्मा के प्रति जो हम बहुत श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं वो उत्पन्न होगी जितनी श्रद्धा आज है वो श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी परमात्मा रूपी लक्ष्य आज जितना है वो उससे और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा जितना जितना हम करते जाते हैं तो महर्षि ने लिखा हे सर्व मंगलमय अर्थ की भावना मन में रखने का प्रयास करते हुए ओम का उच्चारण प्रभु का स्मरण ओ